यही लोग हैं जिन्हें उनके सब्र की जजा में बाला खाने दिए जाएंगे और इसमें उनका इस्तकबाल जिंदगी की दुआ और सलाम से किया जाएगा